राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है आठ से ग्यारह वर्ष के बच्चों हेतु हमारे पेड़ पौधे श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम इमली बंदर ये मोर ये फलों की हाँ, टोकरी अरे बाबूजी आप भी देखिए ना हाँ, भाई देख रहे हैं ये बड़े सुंदर खिलौने <laughs> भाई किस चीज से बनाते हो बाबूजी गोबर और मिट्टी से हाँ? साथ में इमली के बीज का आटा मिलाते हैं ये देखिए बाबूजी इमली के बीज का आटा पर क्यों मुनिया मजबूती के लिए इससे खिलौने बहुत मजबूत हो जाते हैं आपका घर कहाँ है <laughs> मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ बिटिया उड़ीसा वहाँ भी इमली के पेड़ होते हैं क्या <laughs> <laughs> अरे गुड्डी मुनिया इमली के पेड़ पूरे भारत में होते हैं अच्छा। हाँ बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा नेपाल इंडोनेशिया और अफ्रीका में भी होते हैं हम्म। अफ्रीका में भी हाँ वो तो बाबूजी बहुत दूर है ना समुद्र के पार हाँ है तो पर इमली का पेड़ अफ्रीका से ही दुनिया भर में फैला है पहले पहल इमली का पेड़ अफ्रीका में ही होता था जी ये तो बड़ा कमाल का पेड़ है हाँ। विदेश से आया पर ऐसा यहाँ का हो गया कि यकीन ही नहीं होता कि कहीं और का है <laughs> अरे और तो और अरब लोग तो जब भारत आए तो हर जगह इमली का पेड़ देखकर उन्होंने इमली का नाम ही रख दिया तमारे हिंद यानी भारत का खजूर क्यों दादाजी खजूर तो मीठा होता है और इमली खट्टी अरब के लोगों ने इमली को तुम्हारे हिंद क्यों कहा अरे जैसे उनके यहाँ खजूर के पेड़ बहुत होते थे ना वैसे ही यहाँ इमली के पेड़ बहुत थे बस उन्हें लगा कि हिंदुस्तानियों को ये फल खजूर सा ही प्यारा है <laughs> ऐसा ही रहा होगा ऐसा ही रहा होगा और गुड्डू मुनिया अंग्रेजी में इमली को क्या कहते हैं बताओ हम्म, बताओ हाँ याद आया हाँ टेमेरेंट हाँ <laughs> और दादाजी टेमेरेंट तुम्हारे हिंद से बना है ना हाँ। <laughs> अरे बड़े साहब माँ जी हम तो समझते थे कि हम ही इमली के बारे में बहुत जानते हैं <laughs> तुम और क्या जानते हो भैया बताओ ना अरे मुनिया हमारे गांव में बहुत सुंदर तस्वीरें बनाते हैं कपड़े हम्म। पर देवी की भगवान की पशु पक्षियों की और <laughs> इमली से अरे नहीं नहीं इमली के रंगों से हम्म। <laughs> अरे बिटिया पहले कपड़े पर मिट्टी गोबर और इमली के बीज के आटे का घोल लेपते हैं और जब वो सूख जाता है ना तब उस पर चित्र बनाते हैं और कहीं कहीं इमली के बीज खाए भी तो जाते हैं <laughs> हाँ माँ जी हमारे इलाके में ही कुछ लोग महुआ और इमली के बीजों का भात बनाकर खाते हैं सुना अकाल सूखा पड़ने पर लोगों को उसी का सहारा बचता है <laughs> अरे वाह इमली तो बहुत काम का पेड़ है मैं तो समझती थी कि इमली खाते हैं और उसके बीजों से छापड़ खेलते हैं बस <laughs> अभी तुझे पता ही क्या है बिटिया अच्छा भी खिलौने वाले हाँ बाबू जी ये बंदर दे दो और वो मोर दे दो अच्छा और ये, और ये, और हाँ, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, आ गए तुम लोग अरे पर इतने सारे खिलौने आप भी माता जी बस अरे इस उम्र में खिलौने ही तो अच्छे लगते हैं <laughs> अनाज कूट चुकी बहू हाँ माँ जी गुड्डी ये ले मूसली अंदर रखा ये तो बहुत बड़ी है हाँ माँ बहुत बड़ी है अरे उठा ले उठा ले बेटे बड़ी तो है पर हल्की है एक बात और बताऊं ये मूसली भी इमली के पेड़ की लकड़ी से ही बनती है हाँ और इमली के पेड़ की लकड़ी हल्की होती है <laughs> अरे भाई फिर इमली का पेड़ याद दिला दिया <laughs> बहू अब तो भूख लगाई खाना तैयार है हाँ माँ जी आज तो मैंने भी खाने के साथ इमली की चटनी बनाई है वाह चलिए पहले खाना खा लेते हैं हाँ, चलो, चलो। हाँ, हाँ। दादाजी हमें चिढ़ा रहे थे अब नहीं चिढ़ाएंगे क्यों जी अब तो नहीं चिढ़ाओगे ना अरे नहीं बाबा नहीं कभी नहीं पर अब तुम लोग रूठोगे तो नहीं ना नहीं पर एक शर्त पर हाँ। आपको हमें कहानी सुनानी पड़ेगी हाँ। कहानी अच्छा बताओ किसकी कहानी सुनोगी तुम लोग इमली की हाँ। <laughs> बहुत साल पहले की बात है एक अंग्रेज अफसर भारत आया हम्म, हम्म। उसका रसोईया हम्म। बहुत बढ़िया खाना बनाता था अच्छा। <laughs> अंग्रेज साहब को खट्टा चटपटा भारतीय खाना बहुत पसंद आता था वो तो होता ही <laughs> अच्छा तो एक बार उसने रसोई से पूछा हम्म। वाह रसोईया <laughs> हाँ तो वेल रसोईया तुम इतना बढ़िया खाना कैसे पकाता रसोइये ने साहब को बताया साहब हम इमली का रस सब्जी में डालता दाल में डालता खाना बढ़िया चटपटा हम्म। हाँ, हाँ, साहब बहुत खुश हुआ हा? उसने खुश होकर रसोइये को इनाम दिया हम्म। और माली को हुक्म दिया माली बागीचे में बहुत सारा इमली का पेड़ लगा अब कुछ सालों में बागीचे में इतने इमली के पेड़ उगाए कि उसकी कोठी का नाम इमली कोठी पड़ गया कोठी फिर क्या दादाजी हाँ बताता हूँ बताता हूँ भाई बताता हूँ हाँ। फिर एक दिन साहब हाँ। दफ्तर से जल्दी घर आया हाँ। उसने देखा कि रसोईया ढेर सारे पीतल के बर्तन आंगन में रखकर साफ कर रहा है हम्म। थोड़ी ही देर में गंदे मैले बर्तन चमकने लगे साहब हैरान रह गया उसने रसोईये से पूछा हाँ। रसोईया बर्तन किस चीज से साफ करता <laughs> रसोईया बोला साहब हम इमली का रस से बर्तन रगड़ता बर्तन एकदम साफ चमकता रसोई की बात सुनकर साहब बहुत खुश हो गया अरे नहीं साहब बहुत चिल्लाया अच्छा बोला तुम हमको मारने को चाहता मारने को जिस इमली से बर्तन का मेल खाता वो हमारे को खिलाता है हाँ। हमारा आठ कटेगा हम मर जाएगा इसके बाद साहब ने कभी इमली की चटनी नहीं खाई हाँ। बल्कि फिर तो वो इमली घर में आने ही नहीं देता था दादाजी हाँ। इमली खाने से क्या आंते कट जाती नहीं, है नहीं नहीं बेटा इमली तो काफी अच्छी चीज है हम्म। इमली की चटनी खाने से भूख बढ़ती है अच्छा। और इमली का शरबत गर्मी में बहुत फायदा करता है हाँ लेकिन बेटे बहुत ज्यादा इमली खाने से गला खराब होने का डर रहता है हाँ। पेट के लिए भी बहुत ज्यादा इमली खाना अच्छा नहीं है फिर भी दादाजी इमली है तो बहुत काम का पेड़ अच्छा वो कैसे हम्म। देखिए ना इमली का पेड़ कितना सुंदर होता है होता है ना हाँ वो तो है सुंदर लंबी लंबी डालियाँ छोटे छोटे पीले भूरे फूल हमेशा हरा रहने वाला पत्ते झड़ते हैं तो साथ साथ आते भी रहते हैं और मालूम है इसकी ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती अरे वाह खुद ही उग आता है और हाँ। बड़ा भी हो जाता है अरे वाह हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था हाँ। पर एक बात तो ये बताना भूल ही गए कौन सी बता दूं बता दो बताऊं हाँ बताओ इमली का पेड़ जमीन को पानी के कटाव से बचाता है हाँ, ये तो मैं भूल <laughs> अरे भाई लेकिन ये तो सभी पेड़ करते हैं <laughs> हाँ, सवाल है हाँ इमली के बीज में बहुत प्रोटीन होता है हम्म। कई रोगों में वैद्य इमली के बीजों का प्रयोग करने की राय देते हैं इमली अच्छा। की पत्ती के बारे में तो तुमने बताया ही नहीं कैसे वैजी हो जी तुम भी <laughs> अरे वो जिमी कंद होता है ना अरे जिसे सूरन भी कहते हैं हाँ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, उसकी सब्जी या अचार बनाने से पहले उसे इमली के पत्तों के साथ उबालते हैं हम्म। वो क्यों दादी ताकि जिमी कंद का तीखापन जिससे गले में खुजली और जलन होती है वो खत्म हो जाए अच्छा हम्म। हम्म। और हाँ, हाँ कहीं जल जाए या सूजन हो हाँ, तो उस पर इमली की पत्ती की चटनी को पकाकर हाँ, बनाकर लगाते हैं ओ, ओ अरे ये तो मैं बताने वाला था हाँ, तुम बीच में ही बोल पड़ी काम <laughs> और अब मेरी बारी है मैं बताऊंगी कि इमली का शरबत कैसे बनाते हैं अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं मैं बताऊंगी नहीं मैं बताऊंगी अरे अरे अरे बाबा ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो अच्छा मुझे बेटे तुम बता अच्छा ठीक है हम्म। इमली लो हाँ। गुड़ लो हम्म। इन्हें पानी में अच्छी तरह घोल दो ठीक शरबत तैयार इमली तो भाई आप सब खाते ही होंगे पर हाँ ज्यादा इमली मत खाना वरना गला खराब हो सकता है हाँ तो दोस्तों पहला सवाल हमारे भोजन में इमली का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है और दूसरा सवाल है इमली के बीज किस किस काम आते हैं इमली अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय विशेषज्ञ एवं परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जयचंदीराम संयुक्त निदेशक आलेख मधु बी जोशी कलाकार जेमिनी कुमार सुचित्रा गुप्ता बाल कलाकार आरती और अंकिता ध्वनियांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा